ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्छते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति श्रीमद्भगवद्गीता सप्तश अध्याय पंद्रहवें श्लोक तक कुछ श्लोक के कुछ श्लोक भाष्य तक विचार हुआ है ठीक है बाकी है जिसमें कहा गया इसमें <clears throat> तीन प्रकार के आहार तीन प्रकार के यज्ञ तीन प्रकार के दान तीन प्रकार के तप उनमें से आहार तीन प्रकार के बता दिया सात्विक आहार का सेवन करना चाहिए राजस आहार तामस आहार नहीं करना चाहिए यदि साधक हो तो यज्ञ आदि भी करना है तो सात्विक योग करना चाहिए राजस तामस नहीं कहा और तप तप भी तीन प्रकार के तप के बारे में बोलते हैं शारीरिक तप वांग्मय तप मानसिक तप तीन प्रकार से तप होता है शरीर को नियंत्रण करना भी एक तप है वाणी को नियंत्रण करना तप है मन को नियंत्रण करना भी तप है कैसा कैसा है तो शरीर के तप ये कहा जाता है देव दिव्य गुरु प्राज्ञ पूजनम सर्वसमार्जम ब्रह्मचर्या अहिंसा च शारीरम तप इस तप को शरीर संबंध तप कहा गया देवताओं की पूजा करना द्विजनों की पूजा करना सम्मान करना गुरुजनों के सम्मान करना पूजा करना प्राज्ञ मान विद्वान होंगे तो समझदार लोग हुए समाज में उनको सम्मान करना शौचम पवित्रता और आर्जवन सरलपना और ब्रह्मचर्य का पालन करना और किसी प्राणी का हिंसा नहीं करना मन प्राणी शरीर तीनों से हिंसा नहीं करना यह शरीर संबंधी तब कहा जाता है और वांग्मय तब क्या है चार विशेषण से युक्त वाक्य को वांग्मय तब कहा जाता है चार विशेषण होना चाहिए एक तो अनुवेक कर होना चाहिए दूसरे को विक्षेप करने वाला नहीं होना चाहता दुख पहुंचाने वाली बाणी नहीं होनी चाहिए और सत्य भी होना चाहिए वाक्य में प्रिय भी होना चाहिए हित भी होना चाहिए ये चारों विशेषण से युक्त होना चाहिए बाणी तब एक बांगमय तब कहा जाता है या माइट प्रत्यय बांगमय माइट प्रत्यय प्राचुर्य अर्थ में विकार अर्थ में नहीं प्राचुर्य अर्थ में तब प्रकृत वचन मैट ऐसा सूत्र है उसके द्वारा हुआ है ये कहना है भाष्य तक हो गया था क्योंकि तो यद्यपि ये केवल वाणी से तप नहीं होगा हमारे कोई भी कार्य करते हैं पांच कारण होते हैं देवदेव जो गुरु प्राज्ञा दिव्य एक तप कहा गया शारीर तप कहा शरीर संबंधी तप के लिए पांच कारण होंगे अधिष्ठान तथा कर्ता करणम विधान विविधा से पृथक श्रेष्ठा दैवम सही बात पंचम शरीर भावत कर्म संपादित ढाइयम बा विपरीतम बा पंचायत तसे अष्टादश अध्याय बोलेंगे चाहे शरीर से हो वाणी से हो मन से हो जैसा भी कर्म का संपादन व्यक्ति करता हो चाहे शास्त्रीय हो न्याय हो या अशास्त्रीय करता हो जो भी करता हो पांच कारण होते धर्माधर्म कुछ भी करे पांच कारण होते जहां कहीं ना कहीं बैठना पड़ेगा अधिष्ठान चाहिए कर्म करने के लिए पाप पुण्य कुछ भी करना हो तो निराश्रय तो करने से आश्रय चाहिए उसको अधिष्ठान चाहिए अधिष्ठान तो कर, करने वाला व्यक्ति की जरूरत होगी करता अधिष्ठान होता करता कर्म तो पृथक तो भिन्न भिन्न प्रकार के इंद्रियों का प्रयोग किस कर्म में कौन से इंद्रियों का प्रयोग करना है ये भी है पृथक विधान विविधा से पृथक से तत्त इंद्रियों का जो व्यापार भिन्न भिन्न व्यापार ये भी चाहिए और दैवम सही बात और पंचम परमात्मा को पंचम कारण माना है सब मिलकर ही कोई भी कार्य सिद्ध होगा चाहे न्याय हो चाहे अन्याय हो न्याय अम्बा विपरीत अम्बा आया चाहे धर्म करता हो चाहे अधर्म करता हो पाप पुण्य कुछ भी करता हो तो पांच कारण होते हैं तो ये शारीर तप में एक ही कारण शरीर का ही कैसे बोल दिया ये प्रश्न उठा तो नहीं ये आगे कहेंगे पांच है पांच से होता है कर्म यद्यपि शरीर को प्रधानता दे करके शारीरिक कर्म बोला है कौन सा शारीरिक तप कहा गया शरीर के प्राधान भी यदि चार और भी है अधिष्ठान आदि है ये कहना है तो बाणी का तबका अनुदेव कर्म वाक्य सत्यम प्रयत्न चार विशेषण से उत्तर जो वाक्य होगा यानी हमारे बाणी ऐसी होनी चाहिए जो हम बोले तो दूसरे को कष्ट न हो परेशानी न हो सुनना करेंगे ए चोर ऐसा बोल दिया कष्ट होगा कि नहीं होगा होगा ऐसा नहीं बोलना चाहिए और सत्य भी होना चाहिए और प्रिय हित भी होना चाहिए उसको भविष्य में अच्छा काम करने वाला हो हमारे वाणी के द्वारा कुछ उन्नति होनी चाहिए उसको हित होना चाहिए और प्रिय भी होना चाहिए वाणी प्रियता भी होनी चाहिए ये चार विशेषण युक्त प्राणी को वांग्मय तब का और स्वाध्याय और अभ्यसन स्वाध्याय का अभ्यसन में प्रतिदिन उसका आवृत्ति का जो सीखना वहीं से है अपने में जो शाखा भेद होंगे वेद के बाद में सीखना है तो जानकारी देने का स्थान वही है वैसे जानकारी मिलती है क्या कर्तव्य क्या कर्तव्य है शास्त्र के बिना कोई जानकारी मिलने वाली नहीं है कर्तव्य कर्तव्य जो दो प्रकार के पथ है मार्ग है उसके लिए शास्त्रीय प्रमाण है शास्त्र जो कर्तव्य बोलता हमारे लिए कर्तव्य है वो जो अकर्तव्य बोलता हमारे लिए अकर्तव्य यही होता है तो स्वाध्याय का धर्म है आवृत्ति प्रतिदिन स्वाध्याय करना जो जानकारी सीखना पड़ेगा कहीं भूल न जाए यही है ये कहा था ठीक है इसकी सत्यम मान क्या अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम कहा हुआ है सत्य मान क्या यथादृष्टार्थ वचन जैसा देखा वैसे कथन करना बना बातें नहीं बनाना उसको सत्य कहा जाता है यथा दृष्टार्थ वचन जैसा देखा उसी विषय का अर्थ मान विषय का कथन करना जो विषय जैसा देखा वैसे बोलना प्रियम मन श्रुति सुखम कहते हैं सत्यम प्रियम इत्यादि कहा हितम चाहिए कहा प्रिय मानी जाए श्रुति सुखम श्रुति माने श्रवण इंद्रिय श्रुति का अर्थ वेद में ये यहां श्रवण इंद्रिय है कान को सुख अच्छा श्रवण इंद्रिय को सुख पहुंचाने वाली वाणी होनी चाहिए सुख श्रोता की सुरत्र इंद्रिय को सुख पहुंचाने वाली वाणी ऐसी वाणी बोलनी चाहिए हितम माने होता है परिणाम पथ्यम आगे जाके भविष्य में हित क्या कड़ुआ होता है दवाई जैसी होती है खाने में कड़ुआ है दवाई पीने के लिए किंतु तो परिणाम उसका अच्छा है ऐसा ही हित तो वाक्य भी ऐसे होता है श्रोता को अच्छा तो नहीं लगेगा किंतु हाँ, मरे उसको हित कर है ऐसा भी होना चाहिए किंतु आपके वाणी में हित होने से भी कड़ुआ नहीं बोलनी जाए क्या प्रिय भी होना चाहिए ये चारों को मिलाकर बोलना चाहिए आपको वाणी ऐसी बात ऐसी वाणी बोलिए मन के आपात खोए औरों को शीतल करे आप भी शीतल होए ऐसा आया है वाणी ऐसे बोलिए मन के जो जो कुछ चला जाए जरूर चला जाए ऐसी वाणी बोलिए औरों को शीतल करे श्रोताओं को भी आराम दे जिस वाणी आप भी शीतल मैंने गलत नहीं कहा करके समझ रहा अपने को शांति हो दूसरे को भी शांति हो अपने को शांति ऐसी वाणी बोलनी चाहिए इसको तब कहा जाता है यही है प्रिय हित विधानतर विधान प्रिय शब्द हित शब्द अन्य प्रकार से व्याख्या है एक तो प्रिय हो गया दूसरे को प्रिय लगने वाली वाणी होनी चाहिए हित माने भविष्य में कल्याण करने वाली वाणी हो उसको अच्छा हो ऐसा दूसरे प्रकार से विधान करते हैं प्रिय शब्द हित अन्य प्रकार से भी व्याख्या है इसकी प्रिय हितयोर विधानतरण प्रकारांतरण अन्य प्रकार से विभाग विभाग बताते हैं प्रिय इत्यादि प्रिय हितम च इत्यादि कहा प्रिय हितम च यद प्रिय हित दृष्टा दृष्टार्थ हो तो जो, प्रिय और हित कहा वो क्या है दृष्ट और अदृष्ट वर्तमान में जो देखा है वर्तमान विषय को कहा प्रिया माने वर्तमान में आनंद देने वाला हो हित माने परत्र आनंद देने वाला हो आप भविष्य में आनंद देने वाला ऐसे वाणी होनी चाहिए ठीक है यद प्रिय हित है प्रिय और हित का अर्थ दृष्टा दृष्टार्थ प्रिय का अर्थ दृष्ट प्रयोजन वाला और हित का अर्थ अदृष्ट प्रयोजन वाला ये ये भी कह सकते कहा हुआ है टीका में कहते हैं प्रथम मतलब विशेषण विशेषत्व इसमें विशेषण वाक्य को विशेष से बोला इस चारों को विशेषण बनाया कही ना तो कैसे तो कहते हैं अनुद्वेग कर्म वाक्य इत्यादि अर्थ करते हैं हा उसे बोलते हैं विशेषण विशेष वाक्य ऐसा होना चाहिए वाक्य है विशेष है और चार विशेषण है नाम धर्माणाम अनुद्वेग कर्तवादी नाम न वाक्य न समुदिता नाम परस्पर समुचे की चकार श्लोक में जो चकार दिया हुआ है प्रिय हितम चयत में चकार है चकार किसके लिए है कहते हैं विशेषणाराम जो विशेषण चार विशेषण है अनुद्वेग करम प्रियम हितम सत्यम यह चार है धर्म इन धर्मों का अनुद्वेग का कर्तवादी धर्म को अनुसार है अनुद्वेग कर हो हाँ, और सत्य हो प्रिय हो हित हो ये चार है विशेषण विशेष कौन वाक्य है वाक्य ऐसा हमारी वाक्य ऐसा होना चाहिए वाक्य समुद्राराम सबके साथ वंश के साथ संबंधित है चारों के चारों चारों का विशेष वही होगा उनका संबंध चारों का संबंध विशेष के वाक्य के साथ ही होगा किंतु तो परस्पर भी संबंध है इनका केवल वाक्य के साथ मात्र नहीं प्रिय का हित के साथ हित का अनुद्वेग करके इत्यादि परस्पर ही समुच्चय होती चकार केवल वाक्य के साथ ही संबंध नहीं समझ रहा इनका परस्पर आपस में भी संबंध है उस संबंध को प्रकट करने वाला चकार है मूल में हितम चयत में चकार है इनका परस्पर भी इनका संबंध है चारों का केवल विशेष के साथ ही नहीं वाक्य के साथ पात्र नहीं इसलिए चकार दिया गया है इत्यादि का विशेषण है ना इत्यादि है विशेषण विशेष धर्म समुच्चयार्थ चकार शब्द चकार जो शब्द है ना एक अव्यय है तो चकार जो शब्द है किसके लिए विशेष धर्म का समुच्चय करने के लिए विशेषणों का धर्म तो मूल में दिखा दिया विशेष मान विशेषणों का परस्पर संबंध नहीं दिखा उसके लिए चकार टीका में कहते हैं किमिति वाक्यम एतर विशेष ये जो वाक्य है एक वाक्य बोलना है तो चारों के विशेषण के द्वारा क्यों उसको विशेष से बनाया जाता है वाक्य को मांगवाय तब वाला वाक्य है तो चार विशेषण क्यों लगाए इसमें ये प्रश्न है कि वाक्य वाक्य एक है चार विशेषण है इसमें क्यों विशेषण लगाया जाता है कि मिति बात ऐसा मिथ समुचय अथवा उन दो उन विशेषणों में परस्पर संबंध क्यों चारों का संबंध वाक्य के साथ क्यों अथवा परस्पर संबंध क्यों दो प्रश्न उठता है पर इत्यादि देखो शब्द प्रयोग करता है वक्ता के लिए दूसरे को ज्ञान कराने के लिए किसके लिए दूसरे को जानकारी देने के लिए ये बोलता है ये बोलता है और सुनता है जानकारी देने के लिए होता है एक आभाष में पर प्रत्ययार्थम प्रयुक्त से वाक्य से दूसरे को जानकारी देने के लिए जो प्रयोग किया गया जो वाक्य है सत्य प्रिय हितता हिता अनुवेकरत्वाराम ये वाणी के वाक्य कैसे होता है चार विशेषण युक्त होता है वाणी तभी वाक्य माना जाएगा सही वाक्य सत्य प्रिय हित अनुद्वय करत्व विशेषण है है अन्यतमेण उनमें से कोई एक विशेषण लग जाए तो वाक्य होगा कि नहीं होगा वो प्रश्न कर रहा अर्थात दो लग जाए तीन लग जाए वाक्य बन सकता कि नहीं कहते तो वाक्य नहीं होगा चारों होना चाहिए अनुद्वेग कर भी हो सत्य भी हो प्रिय भी हो हित भी हो चारों होना चाहिए उनमें से अन्यतम माने कोई एक होने से वाक्य नहीं कहा जाएगा उसको हाँ, केवल प्रिय हो सत्य न हो विक्षेप करता हो दूसरे को हित करने वाला ना हो खाली प्रिय हो तो ये चापलूसी लोग बोलते हैं ना हाँ, चापलूसी लोग ऐसा वाक्य को वाक्य नहीं बोला जाता ये कहना है एक पर प्रत्ययनार्थम प्रयुक्त से वाक्य से दूसरे को जानकारी देने के लिए प्रयोग किया जाता है इस वाक्य का शब्द है वाक्य सत्य प्रिय हित अनुद्वेक द्वारा ये चार विशेषण होते हैं उसके वाक्य के प्रत्येक वाक्य हम जो बोले चार विशेषण से युक्त होना चाहिए सत्य भी होना चाहिए उद्वेग करने वाला भी नहीं होना चाहिए हित करने वाला होना चाहिए प्रिय भी होना चाहिए इत्यादि अन्यथा मेरा अन्यथा मैंने उनमें से कोई एक कोई एक विशेषण लगा दिया अथवा द्वाभ्याम दो लगा दिया दो विशेषणों के द्वारा त्रिवीर वाही हीना नाम अथवा तीन के द्वारा ही एक नहीं है दो नहीं है तीन नहीं है ऐसा होने पर क्या हुआ न बागमय तपस्तों बागमय तप नहीं माना जाएगा चारों होना चाहिए चारों में चारों होगा कोई एक उनमें से कोई एक कमी हो तब भी नहीं होगा दो से कमी हो तब भी नहीं होगा तीन की कमी हो तब भी नहीं होगा चारों चाहिए तभी वाक्य बनेगा एक अट्ठी में कहते हैं यद्यपि वाक्य मात्र से अविशेष सत्य से वाक्य कोई विशेषण तो नहीं दिया वाक्य वाक्य है ये कुछ भी बोल सकता है व्यक्ति बांग्मय तपस्व अनुपत्ति बांग्मय तब नहीं होता केवल बोलने मात्र से आपने शब्द बोल दिया आपका तब नहीं बना वाणी में तथापि फिर भी सत्य वाक्य से विशेषणतरा भावे भी सत्य लगा देगा केवल सत्य बोलेगा ठीक है बाणी से सत्य बोलेगा बाकी उद्वेग करने वाला नहीं समझ क्या पता सत्य बोलने से क्या गलत ना हो जाए नहीं समझता और कब हित भी नहीं है प्रिय भी नहीं है केवल सत्य है उसको वाक्य नहीं कहा जाता कहते हैं एक शंका है यहां यद्यपि वाक्य वाक्य मात्र से अभिषेक वाक्य मात्र जो क्यों विशेषण नहीं लगाया ऐसे वाक्य हो बानवे तपस्त अनुपत्ति वो तो बानवे तब हो नहीं सकता विशेषण के बिना वाक्य चार विशेषण होगा तथा फिर भी एक विशेषण लगाने से काम चल जाएगा पूर्ववादी की शंका है यहां सत्य वाक्य से सत्य वाक्य कैसे वाक्य हो प्रिय हो हित हो अनुवेकर हो विचार नहीं किया केवल सत्य एक ही विशेषण वाक्य है विशेषणोत्तार भावी अन्य विशेषण तीन विशेषण न होने पर भी केवल सत्य वाक्य है मात्र से बांगवे तपस्तम उसमें बांगवे तप कहना चाहिए सत्य बोल रहा है अरे शंका करे कहा नत्या बोलते हैं तथा ऐसा नहीं होगा तथा इत्यादि कहा हुआ यहां तथा जैसे एक दो तीन से घीन होने पर नहीं होगा केवल सत्य बोला तब भी नहीं तथा हाँ, सत्य वाक्य से जैसे एक की कमी दो की कमी तीन की कमी में वाक्य नहीं माना जाता ठीक इस प्रकार सत्य की कमी हो केवल सत्य मात्र बोला हो अन्य नहीं बोला हो सत्य वाक्य से इतने शाम अन्य तमें ना द्वाभ्याम त्रिवा हिना नाम सत्य बोला सत्य वाक्य आपका सत्य विशेषण है बाकी अन्य कोई बोला नहीं गया दो भी नहीं तीन भी नहीं इसमें क्या होगा ये ईरता अधीन होने पर ना वांग्मय संपत्त होगा वांग्मय तब नहीं कहा जा रहा उसको ये कहा ठीक है वह कहते हैं तथापि परिणाम पथ्यम वाक्य मात्रम तथा भविष्य कहते हैं जो हितम चाहिए था हितम वाक्यम हितम बोलेंगे क्या बोलेंगे बस हित करने वाले को वाक्य कहेंगे इतना मात्र से भी परिणाम पथ्य परिणाम उसका अच्छा है पथ्य है औषध है वाक्य मात्र हम तथा वैसे ऐसा तो परिणाम पथ्य वाक्य होगा मैंने हित वाक्य होगा वो वाक्य हो जाएगा इस शंका आ गया तो नित्य ना केवल हित करने मात्र से वाक्य नहीं माना जाता तथा इत्यादि सब से कहा वाक्य विषय है तथा हित वाक्य से हितम वाक्य बोल दिया केवल हित करने वाला वाक्य हो इसको वाक्य नहीं माना जाता क्यों हित वाक्य से आप इतरेशा अन्यतम द्वाभ्याम त्रिव्यपा युक्त अन्य में एक तीन में से कोई एक न हो और हित तो है प्रिय नहीं अथवा अनुद्वेद करत तो रहे अथवा वो नहीं सत्य नहीं हो तीन में से कोई एक न हो अथवा दो दो न हो या तीन न हो तीनों के तीनों न हो उस स्थिति में विविध से न बांगमय तपत्वों कहते हैं वो तो तप नहीं माना जाएगा केवल हित तो लगा दिया नहीं होने वाला कितृक ही तपो बांगमयम इति प्रश्न फिर कैसे तप को बांगमय कहा जाएगा तब कैसे तप होना चाहिए बांगमय तप के लिए प्रश्न होता है किम पुनः प्रश्न है किम पुनः तत्तप फिर वो तप कौन है जो बांग्मय तप तत्तप बांग्मय तप बांग्मय तप क्या है उत्तर देते यद सत्यम कैसा होना चाहिए बांग्मय तप सत्य होना चाहिए वाक्य सत्य होना चाहिए जो देख, जैसा देखा वैसा बोलना यथा दृष्टार्थ वचन कहा था यद सत्यम वाक्य सत्य वाक्य होना चाहिए अनुद्वेग कर्म वो भी होना चाहिए उद्वेग न करने वाला दूसरे को कष्ट न हो हमारे बाणी से प्रिय हितम प्रिय भी हो हित भी हो चारों विशेष से युक्त हो तत् जो ऐसा वाक्य है यद वाक्यम तत् वाक्यम परमम तपो वांगमयम उस वाक्य को वांगमय तप परम तप परम वांगमय तप कहा जाता है चारों विषय से युक्त होना चाहिए इसे संभल करके बोलना चाहिए बाद में सौरी न करना पड़े बाद जाएगा गलत बोलते बाद में क्षमा कर दो अरे बोल दिया बाद में क्या क्या सो रही हो क्या क्षमा होगा सोच करके बोलना चाहिए ठीक है मैं कहते विशिष्ट है तो तपसी बांग्मय तो विशिष्ट है विशेषण से युक्त है चार विशेषण युक्त है ऐसा होने पर पुस्तक में दृष्टांत दृष्टांत देते हैं कैसे दृष्टांत जैसे बोलना चाहिए कैसे समझो यथा शांतो भगवत हाँ हे वत्स शांत हो जाओ हे बालक शांत हो जाओ हे बेटा ऐसा भगवान स्वाध्यायम योगम से स्वाध्याय किया करो योग योग का अनुष्ठान करो तथा ते श्रेय भविष्य तुम्हारे कल्याण होगा भविष्य ऐसा वाक्य बोलना चाहिए मिलाकर शांत हो भगवान उद्वेग करने वालों को शांत हो जाओ शांत हो भगवत अच्छा, स्वाध्याय योगम से स्वाध्याय करो योग का अनुष्ठान करो तथा थे ऐसा करने पर क्या हत्य श्रेय भविष्य तुम्हारा कल्याण होगा ऐसा वाक्य बोलना चाहिए मिला करके कहा ठीक है मैं कहते हैं बानवे तप में ना कैसा होगा प्रावमुखत्व पवित्र पाणित्व इत्यादि विधान अनतिक्रम्य स्वाध्याय से आवर्तन में बांगमय तपस्या अंतर्भवती कर देखो स्वाध्याय व्यसनम चाहिए कहा स्वाध्याय का अभ्यास करना आवृत्ति करना किंतु तो वेद की शाखा पढ़ते समय पूर्वोमुख होकर के करना चाहिए कैसे होना चाहिए हाथ पवित्र होना चाहिए ये सब करके करना चाहिए ये सब ये भी एक भंगमय तप में आता है वेद का स्वाध्याय करना हमें प्रतिदिन आवृत्ति करना एक प्रामुखत्व वेद पढ़ते से पूर्व की तरफ मुख होना चाहिए पवित्र पाणित्व इत्यादि हाथ माने पवित्र होना चाहिए इत्यादि विधान जो जो विधान बताया है वेद के पढ़ते समय में उसका अतिक्रमण न करते हुए उल्लंघन न करते हुए उस विधानों का स्वाध्याय से आवर्तन होती स्वाध्याय का जो आवृत्ति कर रहा प्रतिदिन उसका भी बांग्मय तपस्या अंतर्भवती वो बांग्मय तप्य है स्वाध्याय अवसर चाहिए वह तो तपस्या कहा वाक्य एक तो वाक्य ऐसा हो चार विशेष युक्त वाक्य उसमें स्वाध्याय की जो अभ्यास है प्रतिदिन आवृत्ति है पवित्र होकर के करना वो भी है बांग्मय तप के होता है ये कहा है प्राचुर्यण प्रसिद्धा अस्मृति वांगमयम वाक प्रधानम यही है तो वांगमय में मयट प्रत्यय प्राचुर्य अर्थ में है तत्प्रकृत वचने मयट ऐसा सूत्र से मयट हुआ है जैसे जिस यज्ञ में केवल मालपूड़ा बनता हो उसको यज्ञ अपूपमयो यज्ञ बोला जाता है जैसे होता मतलब मालपूड़ा ही मालपूड़ा है केवल मालपूड़ा में अन्य भी है प्राधान्य उसके अधिकतर वो है इसको लेकर बोला जाता तत्प्रकृत वचने मयट सूत्र है व्याकरण में बैठ करते हैं एक बाघ वाक प्राचुर्य वाणी की प्रचुरता इस चार विशेषण से उत्तर होने पर स्वाध्याय वेद है उसमें प्रसिद्धा अस्मिन वांगमयम इसमें इस वाणी में ऐसा है फैली हुई है इसलिए बांगमय कहा जाता है बाघ प्रधान वाणी की प्रधानता इसमें स्तप तप में मानसम तपम संक्षेप मानस तप को संक्षेप कहते हैं मन प्रसाद सौम्यत्व मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धि तपो मानस मुच्यते मन प्रसाद सौम्य मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धि तपो मानस मुच्यते मन प्रसाद मन की प्रसन्नता मन प्रसन्न हो उसी को प्रसाद कहा जाता है मन की प्रसन्नता माने मानस में मन की प्रसन्नता एक है दूसरा है सौम्यत्व कि माने हमारे जो मन के भाव अपने हमारी मुखाकृति आदि से दूसरे समझ सके प्रसन्न होगा मुखाकृति ऐसा देख करके समझे इसका मन प्रसन्न है ऐसा समझे ये सौम्य पाना और मौनम मौन मौन हेतु तो वाणी का है किंतु वो मौन मनोपूर्वक मन मौन हो तभी वाणी मौन होगी मन में चांचल्य हो तो वाणी मौन नहीं ले सकती ये मौन या कार्य में है वाणी में है किंतु कार्य में प्रयोग कर दिया मौन मन में किया गया और आत्म विनिग्रह मन को निरोध करना निग्रह करना या आत्मशब्द करता तो मन मन का निरोध करना भाव संशुद्धि अपने बुद्धि के जो वृत्ति आए ना शुद्ध होना चाहिए भाव की संसिद्धि भावना संसिद्धि हो मन की भाव शुद्ध हो मन का भाव ये तप तपो मानस हो यह सब मिलकर के एक मानस तप होता है मन संबंधी तप को मानस कहा जाता है माने हमारा मन हमेशा प्रसन्न हो एक और सौम्य बना हो माने हमारे मुखाकृति को देख करके दूसरा रोए नहीं ऐसा ऐसे हमारा मुख होना चाहिए प्रसन्न अवस्था में हो मुखाकृति तो मन भी शांत होता है उस काल में प्रसन्न होता है और मौन माने मन के संयम पूर्वक वाणी का संयम होता है मौन माने संयम है मन के संयम के बिना वाणी का संयम होना संभव नहीं है इसलिए बाण में मनसी प्रतिष्ठित मनो में वाणी प्रतिष्ठित इत्यादि बाण में मन से प्रतिष्ठित इत्यादि मेरी वाणी मन में प्रतिष्ठित हो मन के साथ रहे वाणी और मन वाणी के साथ हो तब सही बोलेगा मैं मन कहे वाणी कौन हो तो गड़बड़ करेगा कि हम प्रार्थना करते हैं प्रतिदिन वांग में से प्रतिष्ठा मनो में वाणी प्रतिष्ठा इत्यादि हम बोलते हैं परस्पर एक दूसरे में आश्रित हो मन वाणी के साथ हो वाणी मन के साथ हो तो हमारी जो प्रवृत्ति सही होगी तो कहा मानस तब कहा जाता है कहा तो भाष्य में कहते मन प्रसाद मन प्रसाद मैं अर्थ क्या मनस प्रशांति मन की शांति अवस्था शांत हो जाना मन का मान स्वस्थता का आवरण विषय की तरफ जब मन जाता है तो कलुषित हो जाता है विक्षिप्त होता है मन और विषय रहित हो जाता अपने आप में होता है तो स्वस्थ अपने स्थिति में होता है वो स्वस्थ स्थिति स्वस्था अपने में होता है पहले विषयों में था अपने में होता है ये शांति थी प्रसाद का अर्थ मन प्रसाद मन मनसा प्रशांति मन की जो प्रशांत अवस्था मान स्वस्थता पालन अपने स्वस्थता तो को प्राप्त करना पहले अस्वस्थ होता था विषय में जाते समय में विक्षिप्त होता था अपने में रहना इसको कहा मन प्रसाद मन की प्रसन्नता मनसा प्रसाद यही मन की प्रसाद प्रसन्नता सौम्यत्व आय सौम मन सौम्यत्व आय सौम्यत्व का अर्थ क्या है यद सौमनस्य आहू जो सौमनस्य के विषय में बोलते हैं सुमन हो जाना सुमनस्य भाव सौमनस्य यही होता है अच्छा मन होना तो उसके लोग लो कहते हैं कहते हैं सौमन से विद्वान लोग कहते हैं से क्या अवस्था है मन के भाव ये मुखादि प्रसाद कार्य अंतकरण वृत्ति है वो से माने दूसरे लोग समझ सके हमारे मुख ऐसा हमारा मन स्वच्छ होगा तो मुख भी प्रसन्न होगा मुखादि के प्रसन्न करने वाला होता है ऐसा अंतकरण की वृत्ति विशेष है सौम्यत्व है मौनम आगे मौन मतलब वाणी को विरोध कर रहा होता है मानस तप के विषय में बोला जा रहा है तो कैसे मौनम बने बाघ समय रूपी मौन का अर्थ वाणी का समय को मौन कहा जाता है सही है मन समय पूर्वक वाणी का जो समय होगा तो मन के बिना नहीं होगा मन समय होगा तो वाणी समय होगा मन जब तक नियंत्रित नहीं है तब तक वाणी नियंत्रित होना संभव नहीं है मौन बाघ समय भी जो वाणी का संयम है ना ये कार्य है कारण है मन का संयोग संयम मन संयोग पूर्वक हो भगवती वाणी का संयोग संयम जो होता है मन संयोग पूर्वक होता है कार्य कारण होते थे कार्य है मौन वाणी का संयम है मौन किंतु कार्य के द्वारा कारण को कहा जाता है कारण क्या है मन समय संयम उसको कहा जाता है यद्यपि मौन माने कार्य का कार्य है कौन वाणी का कार्य है वो मौन होना किंतु यह कार्य के द्वारा कारण कहा जाता है मन समय को कहा जाता है मौन का अर्थ या मन के लेकर कहा क्यों उसके बिना वाणी में समय होता नहीं मन के के बिना इसलिए मौन का अर्थ मुख्य मौन मन का ही होता है मुख्य रूप से मौन हो जाए मन तो वाणी मौन हो जाएगी या कार्य या कार्य शब्द दिया मौन शब्द दिया वाणी का है वो कारण को पाया जाता है मौन का समय माना मन संयम हो मौनम एकदम मन का संयम को मौन कहा यहां यदि मौन वाणी का कार्य दिखता है किंतु वाणी का मौन तब तक नहीं होगा जब तक मन का मौन न हो इसलिए मौन शब्द के द्वारा यहां मन का समय भी कहा गया है कहा आगे आत्म विनिग्रह मौनम आत्म विनिग्रह आत्म विनिग्रह ने क्या मनोनिरोध मन को विषयों से रोकना शब्द आदि जो विषय है शब्द स्पर्धा विषय मन को रोकना अपनी स्थिति में लागे रखना यही है आत्मा को निग्रह आत्मा माने मन है आपको सब मन कभी शरीर में प्रयोग होता है कभी इंद्रियों में प्रयोग होता है कभी मन में प्रयोग होता है ये आत्मा कभी आत्मा में प्रयोग होगा कभी जीवात्मा में कभी ईश्वर में कभी निर्विशेष में वो प्रकरण को देखते हुए समझना पड़ेगा आत्मा शब्द का प्रयोग मन के समय की अवस्था में आया आत्मा में निग्रह तो यह आत्मा को निग्रह करने से कोई फायदा है किसका करना मन को करना पड़ेगा मन का निरोध विषयों से परामुख कराना ये सब है सर्वतः सामान्य रूपा आत्मविनिग्रह कहा सभी विषयों से सामान्य रूप से मन को निरोध करने का नाम है आत्मविनिग्रह यहां सभी विषयों से सत्यादि जितने विषय हैं जान जान जाने का स्थान है इसका इस मन का जाने का है वहां से इसको निग्रह करना अपने में लाके रखना यही आत्मविनिग्रह का सामान्य रूप से किस रूप से सामान्य और विशेष रूप से जब किया जाता तो मौन कहा जाता है उसको केवल वाणी का सम्यक करना मन के को पूर्वक उस काल में मौन कहा जाता है आत्मविनिग्रह और मौन ये दो में इतना अंतर है मन मौन भी मन का ही है आत्मविनिग्रह का अर्थ मन का निरोध कर सभी विषयों से सामान्य रूप से और विशेष एक ही विषय में जो वाणी में है उसको रोकने के लिए मौन कहा गया इतना अंतर है समझना कहा यह मौन और आत्मग्रह देता है बाघ विषय से भी मनुष्य मनुष्य मनसा समय में मौन यही है केवल वाणी को विषय करने वाला जो मन का समय होगा विशेष हो गया ये इसको कहा जाएगा मौनम और सभी इंद्रियों को विषयों से मन को निरोध करने का नाम है आपत्ति निग्रह इतना भाव संस्कृति आया है इतने तपोमान सूच रहे भाव परेर व्यवहार काले दूसरे के द्वारा जो व्यवहार किया जा रहा हमारे ऊपर दूसरे व्यक्ति जो परेर व्यवहार काले दूसरों के द्वारा हमारे ऊपर जो व्यवहार होगा उस स्थिति में भी तो कपट नहीं करना उसके साथ वो कपट करके आ रहा कुछ भी व्यवहार कर रहा हो क्षुद्र व्यवहार करता हो कोई हमारे साथ तब भी अमावित्व कहा अमायावित्व मायावित नहीं होना छल करने वाला नहीं होना यह है भाव समझ अपना भाव न सुनता है वो जिस रूप में आ जाए अपने भाव सुनता है स्थिति दुर्योधन युधिष्ठिर आदि को कोई कम दुख नहीं दिया बहुत दुख दिया फिर भी युधिष्ठिर कभी दुर्योधन नहीं बोलते थे सुयोधन बोलते थे क्या बोलते थे उनके मन में ऐसी वृत्ति होती थी दुर्योधन कभी भी ऐसी वृत्ति नहीं कष्ट देने में बोलता था उस स्थिति में उनकी वृत्ति में बदलाव है सुयोधन कहते थे दुर्योधन नहीं बोलते थे सुयोधन ये भाव संस्कृति परेरे का भाव संस्कृत परेर व्यवहार का दूसरे के साथ व्यवहार हो रहा हो हम दूसरे के साथ व्यवहार कर रहे जिस काल में दूसरों के साथ व्यवहार काल में बैठे फिर भी अमा अमावी तुम भी तुम मायावित्व तो नहीं होना ठग नहीं होना परवचना नहीं करना भाव सिद्धि इसका नाम है इतने तत्व को मानस का ये सब मिलकर के मानस तक होते हैं ठीक में कहते हैं प्रशांति में वो व्यक्ति मन की जो प्रशांति है उसको स्पष्टता करते हैं स्वस्थता अपादन बोलती है भाष्य में उसको स्वस्थता को लाना विषय में जाता था तो विक्षिप्त होता था अस्वस्थ हो जाता था अब स्वस्थ बना दिन भर कोई टीवी देखता हो तो मन में भी ग्लानी हो जाती है आगे जाकर के खाते खाते भी ग्लानी होती है विषय में जाने से स्वस्थ नहीं होता अस्वस्थ होता है कितने भी अच्छा प्रोग्राम दिख रहा हो किंतु आगे सुन रहा हो देख रहा हो बोल रहा हो थक जाता है अस्वस्थ हो जाता है और आराम करेगा स्वस्थ हो जाता है अपने आप में होता स्थिति है हम अपने से अनुभव कर सकते हैं ठीक है हमें कहते हैं मनुष्य स्वास्थ्य अनाकुलता व्याकुलता नहीं आनी विषयों को लेकर व्याकुल हो जाता है अपने आप में होने पर अनाकुलता अपने व्याकुलता का भाव होना यही है प्रशांति सब प्रकार से कहा नैश्चित्य में दे चिंता रहित हो जाना मन को जिस अवस्था में विश्व की चिंता से मुक्त हो वो ये प्रशांति मन प्रसाद वही है मन की प्रसन्नता वही है देखो सुसुप्ति में कोई भी हमारे पास वस्तु नहीं होते किंतु वहां प्रसन्नता है या रो रहा है व्यक्ति प्रसन्नता है विश्व से सुख होता है ऐसी बात नहीं है अपने स्थिति में बैठे जो सुख होता है सुसुप्ति एक दृष्टांत है तो वहां कोई विषय होते नहीं फिर भी हम तृप्त है वहां जागृत स्वप्न में इतने घूम रहे हैं इतने दिन रात घूम रहे हैं फिर भी हम अस्वस्थ हैं मन की स्थिति हमारी खराब है तो विषयों से सुख नहीं मिलने वाला है ये समझ जाना यदि सुख चाहिए अपने भीतर घुस जाना भीतर जाके बैठ जाना यही सुख है ठीक है मैं आगे बोलते हैं सौमनस्यम सौम्यत्व आया है सुमनस्य भाव सौमन्य सौमन सौम्यत्व बोलते हैं अच्छा मन स्वच्छ मन होना सौमन से मन सर्वे को हितैषित्व तो या सबके लिए हितैषी हो कैसे हो हाँ, शत्रु में तो भाव से रहित हो तभी सौ सौमन से आ जाएगा सर्वेभ्य सबके लिए हितैषित्व अहित अचिंतनम किसी का भी अहित का अचिंतन चिंतन नहीं करना किसी का भी अनिष्ट का चिंतन नहीं करना यही है सौमन से तत्कथम गम्य कैसे जाना जाता है मान सौमन से शब्द का अर्थ सौम्यत्व का अर्थ सौमन से है सौमनस्य से माने किसी माने सबके लिए हित का चिंतन रहा अहित का चिंतन नहीं रहा कैसे जाना जाता लोग ऐसे कहते हैं ऐसे उत्तर देते हैं उत्तर देते हैं यथ सौमनस्यम जो सौमनस्य है ना सौम्यत्व करते सौमनस्य आहु उसी के विषय में बोलते हैं लोग दूसरे के द्वारा जैसे व्यवहार हो रहा हो किंतु उसका मुख प्रसन्न होगा मुखादि प्रसाद कार्य मुखादि जो इंद्रियादि को प्रसन्न कराने वाली जो होती है अंतकरण से वृत्ति अंतकरण के वृत्ति विशेष को सौम्य कहा गया तो यही होता है आगे टीका में कहते हैं नानो मौनम बांगनीय मनम बांगवे तपसी अंतर्वृत्ति मौन जो शब्द है ना वाणी का नियंत्रण करने का भाई मौन शब्द का अर्थ या मानस तप में कैसे रख दिया मौन शब्द को ये प्रश्न है नानु मौनम जो मौन शब्द है यहाँ बांग नियमनम वाणी का नियंत्रण करने का नाम मौन होता है बांगवय तपसी अंतर्भवती तो बांगवय तप में अंतर्भूत है कौन मौन तो अनुद्वेग का कर्म वाक्य में वो उसी वाक्य में बांगवय तप में अंतर्भूत है मौन शब्द तत्कथम मानसे तपसी व्यपदिश्य वो जो मौन शब्द है तत् मौनम कथम मानसे तपसी व्यपति मानस तप में कैसे उपदेश किया जा रहा है मौन को वो तो वाणी का समय है वो तो में तब में अंतर्भूत हो चुका है वाणी के धर्म है वो तो फिर यहाँ मानस तब में कैसे रखा मौन को ये प्रश्न है मौन यदि उत्तम मौन क्यों कहा यहाँ मानस तप में प्रश्न आया कहते बाबा वाणी का समय भी मन के समय पूर्वक होता है यदि मन का समय न हो तो वाणी में संयम नहीं हो पाएगा इसलिए यहां पर कार्य है यद्य मौन वाणी में वाणी का धर्म है कि तो कार्य में प्रयोग कर दिया गया उसके बिना नहीं होता है ये कहना है ये कहा था मौनम वाक समय यद्यपि वाणी का समय है मौन भाष्य में कहा था मन समय पूर्वको भवती मन समय पूर्वक होता है वाणी का समय इति इस प्रकार कार्य कारण उच्चते मौन शब्द कार्य में आता है तो कारण को बता दिया मौन का कारण मन का समय संयम मन संयम को मौनम भी कहा ठीक है कहते हैं यथवा अथवा दूसरी व्याख्या करना मौनम करना मौन मन मुनि भाव मनन में रहना श्रवण पूरा हो गया मनन में रहने वाले को मुनि कहा गया मननाथ मुनि श्रवण पूरा हो गया श्रोतव्य मंतव्य इतिहास तव्य पहले सुन लिया सुनने के बाद में पूर्वापर मनन चिंतन करना मनन करना यही होता है मौन मन मुनि भाव मुनि में रहने वाले धर्म को मौन कहा जाएगा मुनिर भाव मौनम युवादि हायंताभ्यो हायंतादिभ्यो अण लगा दिया मौन बना दिया मुनि के धर्म को मौन कहा गया युवादि हायना तभ्यो अण ऐसा युवादिगण के शब्द हो हायना तो द्विहायना त्रिहायना ऐसे बोलते हैं वो अड़ लगता है दस भाव तो तल तो तल नहीं लगेगा अण लगता है मुनि शब्द से अण करेगा तो आदि की वृद्धि इकार का स्थिति जो लोप बनेगा मौन यदि मौनम मन मुनि भाव मुनि के धर्म को मौन कहा जाता है जो मननशील व्यक्ति है ना उनमें जो धर्म होगा मौन कहा जाता है मननम उनका क्या धर्म है मनन करना धर्म होता मुनि का धर्म क्या होगा श्रवण हो चुका है परोक्ष रूप से पांडित्य आ गया उनमें शास्त्र हो चुके हैं अब पूर्वापर का विचार करना मनन करने का समय उस, उस काल में मुनि कहा जाता उनको आत्मनो मनुष्य विनिग्रह कहते हैं आगे ये तो मनन हो गया आत्म विनिग्रह का अर्थ क्या है फिर सब मौनम आत्म विनिग्रह आत्मनो मन मनुष्य है आत्म शब्द किस प्रयुक्त हुआ मन में मन का निग्रह करना निरोध करना विषयों से उसको अंतर्मुखी वृत्ति बनाना विषय से पृथक करना उसको भीतर करना यही है यहां आत्म विनिग्रह शब्द आत्मरो मनसो विनिग्रह निरोधक कहा नानो एवं मौन से मनोनिग्रह से मन जैसे मौन शब्द का अर्थ आपने मनोनिग्रह को बताया है क्या बताया मन का निग्रह को बताया है मन न एकत्वाद मन का सम्यम बोलो और तो मौन बोलो एक ही तो वही है मन का नियंत्रण करना मौन शब्द से भी और मन सब भी वही है मन सौम्यत्व से भी वही आया मौन से भी वही आया एकार्थक हो गया दोनों एक पूर्वादि की संज्ञा है नानो एवं ऐसा मानने पर मौन का जो अर्थ आया मन का संयम तो आया क्या आया और आत्मविनिग्रह का अर्थ भी वही आता है तो मनोनिग्रह से मन का निग्रह करना आत्मविनिग्रह का अर्थ किया था क्या किया था मन का निग्रह का अर्थ और मन सम्यत्व मन का समय भी वही है मन सम्यत्व का अर्थ वही है मन प्रसाद सौम्यत्व एकत्व एक ही अर्थ है दोनों का चाहे मन का निग्रह करना बोलो चाहे मन को संयम करना बोलो बात तो एक ही संयम बोलो निग्रह बोलो बात एक ही है तो पौनरुक्त्यम एक ही के लिए दो बार बोलना पुनरुक्ति है एक ही अर्थ बताना है दो बार बोल दिया सौम्यत्व बोला सौम्य बोला और दूसरा आत्मनिर्भर ये शंका नित्य पुनरुक्ति नहीं है कहते सिद्धार्थी देखो विनिग्रह का अर्थ है हाँ, मनोनिरोधो सर्वता सभी विषयों से मन को निवृत्ति करना निरोध करना यह विनिग्रह यहाँ मन का निरोध करना और दूसरा केवल वाणी का नियमन करते समय मौन शब्द से कहा गया क्या कहा मौन वाणी के केवल एक विशेष विशेष विषय वाणी के लिए प्रयोग करते समय में मौन कहा गया वाणी को निरोध करते उसके लिए करेंगे मन सम्य पूर्वक है उसके लिए सौम्य मौनम कहा था आत्मविनिकरण अर्थ है सारे विषयों से सामान्य रूप से निरोध करना इसको हो जाएगा आत्मविनिकरण था अर्थ अर्थभेद है ये कहते हैं दोनों आगे भाव संसिद्धि पर आया भाव संसिद्ध पर है भाव से हृदय से भाव है तो हृदय बुद्धि है यार समशुद्धि उसकी शुद्धि क्या राग आदि मल अभिकलता यहां मात्रा देनी चाहिए विकलता नहीं अभिकलता है आकार लगाना चाहिए रागा राग द्वेषादि जो मल होता है ना बुद्धि में उसको हटा देना चाहिए उसको विकलित नहीं करना चाहिए बुद्धि को विचलित नहीं करना चाहिए यही है उसके भाव शब्द बुद्धि की शुद्धि यही है भाव शब्द माने यही होता है भाव से हृदय से हृदय माने हृदय से बुद्धि की बात है मन की बात है समशुद्धि उसकी शुद्धि माने क्या रागादि मल अविकलता रागादि मल से विकलित नहीं हो जाना संबंधित नहीं होना यही है कैसे होता है उसका अनुपता है भाव शुद्ध तो पर व्यवहार का दूसरों के साथ व्यवहार कर रहा है अभी व्यवहार स्थिति में माने परमार्थ स्थिति में नहीं अभी पारमार्थिक सत्ता में नहीं व्यवहारिक सत्ता में बैठा है दूसरों के साथ व्यवहार हो रहा है उसका परेड व्यवहार काल भी दूसरों के साथ व्यवहार करते समय में भी अमायावित्व मायावित्व नहीं होना ठंग रूप से नहीं बोलना मन में धर्म आना भाव सुकृति है ठगने के लिए प्रयोग नहीं करना बाकी का माया भी नहीं होना इसी को भाव शब्द से कहा इतने तब मानस शब्द से कहा था मानसम मनसा प्राधान्य निवर्त्य कहते मानस तपम कहा था ये मानसम तपम बोला था तो मानस मन के मन के द्वारा प्रधान रूप से संपादित होता है ये इसलिए मानस तप कहा गया यद्यपि कोई भी कार्य करते हुए पांच कारण होते हैं अधिष्ठान आदि मन की प्रधानता है यहां इसलिए मानस कहेंगे इसको मन को प्रधानता करके तब बताया गया इसलिए मानस कहा यदि भी पांच कारण होते हैं कोई भी कार्य करो उसके बिना नहीं होगा मन संयम करने के अधिष्ठान की आवश्यकता होगी ठीक है आगे त्रिवेद से तपसो यथा समम सात्विकादि भावे न त्रैविध्यम आकांक्षा द्वारा ये तो पहले तो कहा था सात्विकादि भेद बता रहे थे आप आहारस्तव सर्वस्व त्रिविदा त्रिविदो भवती प्रिय इत्यादि कहा था आपने हाँ, सात्विकी राजसी जाइए तापसी तापसी इत्यादि कहा था आपने सब सात्विक राजस तामस यहां तो कोई नाम नहीं दिया सात्विक है कि राजस है कि तामस है जो तब बताया अभी देवदे जो गुरु प्राज्ञा पूजा सब समाज इत्यादि जो कहा तो ये कोई सात्विक आदि शब्द इनमें था ही नहीं तो इनको क्या माना जाए कहते यही जो तप है तीन प्रकार के तप बताया शारीरिक तप वांग्मय तप मानस तप इसी के तीन भेद हो जाते हैं सात्विक भेद राजस भेद तामस भेद मान तीनों का तीन तीन भेद है ये तीनों मिलाकर के तीन तीन भेद है सात्विक भी हो सकते हैं राजस भी हो सकते हैं तामस भी हो सकते हैं तब तो। जो देवदी गुरु प्राज्ञ पूजनम संसवाद जो ब्रह्मचर्य महिंसा से शारीरम तपुच्य थे अनुद्वेद करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम सयत स्वाध्याय सही जय भागवत तपुच्य कहा और मन प्रसाद सौम्यत्व मौनम मात्र निग्रह भाव शुद्ध तो ये तीन प्रकार के तब जो बताया गया है ये भी सात्विक आदि वैसे तीन तीन हो जाते हैं शारीरिक तप भी तीन प्रकार का हो जाता है सात्विक तप हो सकता है शारीरिक तप राजस हो सकता है तामस हो सकता है इस प्रकार बांग्मय तप भी तीन प्रकार का होगा सात्विक राजस तामस हो सकता है और मानस तप भी तीन प्रकार का होगा ये बताना आगे इसके लिए जिज्ञासा करते त्रिवेद से तपस्या तीन प्रकार तप पता है मान बाप का है मन तीन प्रकार से जो तप पता है तीन प्रकार से तप यथासंभव जैसे संभव है सात्विक आदि भेदभाव है ना तीन प्रकार है सात्विक भी हो सकता है राजस हो सकता है तामस हो सकता है ये तप त्रैविध्यम जो तीन प्रकार बनेगा प्रत्येक का तीन प्रकार शारीरिक तप भी तीन प्रकार और वांग्मय तप भी तीन प्रकार मानस तप भी तीन प्रकार होगा सात्विक आदि भेद से ये जिज्ञासा द्वारा उसी को रखते हैं तीन तीन प्रकार बनेंगे तब सब तीनों में तीन तीन प्रकार होगा ये कहा तो पहले सात्विक आदि भेद बताया नहीं है केवल ये ये शारीरिक शारीरिक तप है ये मानस तप है ये बांग्मय तप है इतना बोला तो इनमें सत्व गुण रजगुण तो वहां लगाया नहीं है इसलिए बोलना चाहते हैं कहा यथोक्तम इत्यादि यथोक्तम कायिकम वाचिकम मानसम से तथा जो तीन प्रकार के तप पूर्वोक्त तो तीन श्लोक में कहा गया है तब तम नर ही तब तम नरों के द्वारा किया गया जो तप है मनुष्य के द्वारा किया गया जो तप है वह तप सात्विक वेदना कथम त्रिविधम भवती सात्विक आदि वैसे कैसे तीन प्रकार हुआ है केवल यहां तो तप की चर्चा कर दी शारीरिक तप वांगमय तप मानस तप कहा सात्विक आदि वेद तो बताया कौन तप सात्विक है इसमें तो शारीरक तप भी तीन प्रकार कहना पड़ेगा और बांग में तब भी तीन प्रकार मानस तब भी तीन प्रकार यही है ठीक तो है बहुत ही उच्च उच्चते उच्चते ग्रंथ से उत्तर देते हैं श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्रिपितम न रही फलाकांक्ष युक्त सात्विकम परिचक्षते श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्रिविधम नरई फलाकांक्ष युक्त ही सात्विकम परिचक्षते परया श्रद्धया तत्तम तप त्रिविधम तप परम श्रद्धा परम विश्वास परया तप माने केवल श्रद्धा ही नहीं परया श्रद्धा अत्यंत श्रद्धा युक्त होकर तप तप तप्तम तप जो तपा हुआ तप है इसके त्रिविधम तीन प्रकार के तप अत्यंत श्रद्धापूर्वक किया जाता है योग चाहे शारीरिक तप हो चाहे वाणमय हो चाहे मानसिक हो नरई माने मनुष्य ही मनुष्यों के द्वारा तीन प्रकार के जो तप किया जाता है परम श्रद्धायुक्त होकर किया जाता हो अफलाकांक्षी दूसरी बात है फलाकांक्षी न हो ये तप का फल मुझे मिले आकांक्षा हो चाहे शारीरिक तप हो चाहे वांग्मय तप हो चाहे मानस तप हो हाँ, मैं करता हूं तो भोगता मैं बनू ऐसे आशा न हो और फलाकांक्षी तो फलाकांक्षी नहीं है फल की आकांक्षी नहीं है काशी अभिकांक्षायाम इच्छा अर्थ में धातु है काशी धातु तो फलाकांक्षी भी कहा फलाकांक्षी हो फल की आशा रही तो भोग करता हो और फलाकांक्षी युक्त तो युक्त ही रही कहा ऐसे फलाकांक्षी से युक्त अभाव के द्वारा युक्त जो नर है मनुष्य है उसके द्वारा किया गया जो तीन प्रकार के तप है परम श्रद्धा से तब कर रहा हो मान अनुद्वेग कर वाक्यवादी जो भी होगा देवदी जी परम श्रद्धा से सेवा कर रहा गुरुजनों की वाक्य में भी परम श्रद्धा है उसकी और मन की प्रसन्नता करने में परम श्रद्धा है इस प्रकार जो व्यवहार कर रहा हो हाँ। सात्विकम परिचक्ष ऐसा होगा फलाकांक्षी रहो परम श्रद्धा के द्वारा मैंने तप कर रहा हो तो इसको सात्विक तप कहा जाए चाहे शारीरिक तप हो चाहे बांग्मय तप हो चाहे मानस का बंधन उस सात्विक तब कहा जाता है ये कहा मानस बंधन श्रद्धया आस्तिक बुद्धिया आस्तिक बुद्धि हो नास्तिक बुद्धि रहो आस्तिक बुद्धि पर या परम आकृष्ट आस्तिक बुद्धि के द्वारा प्रकृष्ट या ऐसे बुद्धि हो तप तम जो तपा हुआ है तप है तप संताप है कष्ट सहन किया हुआ है उसने आस्तिक माने देवादी की पूजा करना गुरुजनों की सेवा करना इतना सरल तो नहीं है किंतु आस्तिक बुद्धि उसमें है इनकी सेवा से मेरा कल्याण होगा ऐसी बुद्धि है तो आस्तिक बुद्धि के तपा हुआ तो तप होगा कष्ट जला है उसने तप तप संतावे धातु है तप तब तो मारे कष्ट है कष्ट झेला है उसने अनुष्ठितम कहा तप्तम तो माने अनुष्ठितम जो अनुष्ठान किया उसने आस्तिक बुद्धि के द्वारा है शारीर तप किया वांग में तप किया मानस तप किया है तो प्रकृतम त्रिविधम तीन प्रकार का तब जो अभी अभी बताया शारीर तप भंगमय तप मानस तप ये प्रकरण जिसका चल रहा है त्रिप्रकारम अधिष्ठानम परे अनुष्ठा त्रिवीर अबलाकांक्षी कहते हैं अधिष्ठान में देहादी अनुष्ठान ये तप का अनुष्ठान अधिष्ठान कौन है चाहे देह में तप कर रहा है चाहे बांग में कर रहा है चाहे मनुष्य में ये तीन हो जाएंगे अधिष्ठान देहादी है अधिष्ठान ये तप का अधिष्ठान कौन देहादी देह हो बांग हो मन हो यही अधिष्ठान उन्हीं में तप हो रहा है इनका अधिष्ठान यही होते हैं त्रिप्रकार का अधिष्ठान तीन प्रकार के शरीर देहादी हैं हाँ। आदि से बांग मना यही होते हैं नरेर अनुष्ठात्र भी नर बने अनुष्ठाता जो व्यक्ति है ना अनुष्ठान कर रहे हैं जो चाहे शारीर तप का अनुष्ठान कर रहे हैं शरीर को अधिष्ठान बना करके चाहे बांगमय तब वाणी को अधिष्ठान बना करके कर रहे हैं तब वाणी में है अथवा मानस तब मन में है इत्यादि कर रहे हैं अफलाकांक्षी माने फलाकांक्षा से रहित ही कहा फलाकांक्षा रहित युक्त ही फलाकांक्षा से रहित जो युक्त व्यक्ति है जिसको फलाकांक्षा नहीं है फल की आशा नहीं है फल मुझे मिले ऐसा नहीं है निष्काम भाव से सेवा कर रहा है निष्काम भाव से बोल रहा है ये वाणी का फल मुझे मिले ऐसा प्रवचन करूंगा तब तो मुझे धन मिले ऐसा नहीं है अथवा ऐसा प्रसन्नता दिखाने पर मुझे शाबाशी गए लोग ऐसा भाव भी नहीं है समाहित कहा युक्त ही माने समाहित जिसका एकाग्रता है उस तप में चाहे शारीरिक तप हो वांगमय तप हो मानस तप हो एकाग्र समाहित एकाग्र के द्वारा युक्त होती है दृशम तप जो इस प्रकार का तप किया जाता है तीन प्रकार के तप है श्रद्धापूर्वक कर रहा हो फलाकांक्षा नहीं है उसमें इनकी सेवा आदि करने से मुझे ये मिलेगा वो मिलेगा ऐसा नहीं है ऐसा जो तप होता है सात्विकम सत्व निर्वृत्तम थे बुद्धि के द्वारा निर्माण माना जाता है बुद्धिमान है वो ऐसा तप परिचक्षते कथनते शिष्टा चक्षण व्यक्तायाम बाजी धातु है तो ये परि उपसर्ग है परिता चक्षते परिचक्षते अरे कथनते उसका कथन करते कौन शिष्ट पुरुष ऐसा बोलते हैं ऐसे तप को सात्विक तप करते हैं ठीक है टीका में कहते हैं अधिष्ठानम देहबांग मनोनिर्वर्तन कहते हैं अधिष्ठान के द्वारा संपन्न होते हैं तब अधिष्ठान चाहिए कौन चाहिए यदि शारीर तप कर रहा तो देह चाहिए शरीर से सेवादि बनी है और बांग में तप कर रहा हो तो बाप अधिष्ठान होगा उस तप का और मानस तप कर रहा तो मन अधिष्ठान होगा ये कहा देहबांग मनोनिवृत्तम कहा सत्व निवृत्तम का यही है समाहित ही मान एकाग्र बुद्धि के द्वारा कर रहा हो एक ही दिखता है उसको वही दिखता है सत्य बोलना ही दिखता है सत्य गुरुजनों की सेवा आदि सत्य वही सत्य समझ के कर रहा है इत्यादि समाहित माने सिद्धि सिद्धि हो निर्विकार निर्विकार सिद्धि असिद्धि में निर्विकार हो यदि अपने लिए व्यक्ति करता है कार्य सिद्ध होने पर तो फूल जाएगा और कार्य की असफला होने रोने लग जाएगा यदि परमात्मा के लिए करता हो तो सिद्धि हो असिद्ध हो उसके काम है सिद्धि असिद्ध विकार रहित होता है सिद्धि सिद्धो निर्विकार इत्यादि है निर्विकार होना कार्य की सफलता हो चाहे असफलता हो निर्विकार विकार रहित हो जाना यदि मेरा है लगाता है तब तो, तो विकार हो जाएगा सिद्ध हो तो फूलेगा असिद्ध हो तो रोने लगेगा परमात्मा ने देखा यही है तो तमो निर्देशित कहा है राजस कैसा होता है उसे बताते हैं सत्कारमान पूजार्थम तपोदम्भेन चैभयत क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसम चलमद्रुवम सत्कारमान पूजार्थम तपोतम्बेर दैवयत यते तदिह प्रोक्तम राजसम मध्रुवम सत्कार लोग बोले साधु का अरे तो बड़ा आदमी है बड़े बड़े लोगों को सेवा कर रहा है अच्छा बोलता है वाणी में संयमता है मन का भी नियंत्रण है इसमें ऐसा बोले मेरे लिए ऐसा बोले ऐसा मान करके तब कर रहा हो काम वही कर रहा जो पहले वाला करता तो वही काम कर रहा है देवताओं की पूजा देव गुरुजनों की पूजा आदि कर रहा है और वाणी को संयम भी कर रहा है मन को नियंत्रण भी कर रहा है किंतु सत्कार के लिए किसी के लिए साधु बोले साधुवाद का धन्यवाद का पात्र है ऐसा बोले मेरे लिए तो मन में भावना है उसकी सत्कार मान सम्मान शरीर को लेकर अभिमान ये तो बहुत बड़ा आदमी है ऐसे महान पुरुष का सेवा करता है ऐसा बोले और पूजा पूजार्थम माने लोग मेरी पूजा करें मेरे चरण धोए सूर्य का लगाए माला पहनाए माने ये ऐसे महान महान व्यक्ति है करके मेरे ऐसे करे इत्यादि भावना लेकर जो तप करता है तपोदम्बे अथवा दम्ब वही दिखाना है धर्म जो होना है मैंने ऐसे ऐसे काम किया है मैंने ऐसा क्या किया है लोगों को बताना इस रूप से भावना से तप करता हो वो व्यक्ति काम वही कर रहा है जो पहले वाला कर रहा था क्रियते ऐसा किया जाता है जो तप की यह तप क्रियते जो तप किया जाता है तद यह प्रोतम राजसव तत्तप तप यह मैंने यहां पर कहा जाता है राजसम चलम संचल तप है वो अध्रुवम उसका फल था ही नहीं है सात्विक तप करता तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती नित्य सुख मिला था क्योंकि यहां उसका फल होगा चलायमान फल होगा विनाशी फल होगा और अध्रुवम स्थिरता नहीं जिस फल में यह फल तो मिलेगा स्वर्ग आदि फल मिलेगा कुछ दिन बाद सब समाप्त हो जाना उसमें स्थिति होगी कहा भाष्य में कहते हैं सत्कार मान पूजा है ना सत्कार मान साधुकार लोग साधुवाद दें धन्यवाद दें ये तो ऐसा ऐसा काम कर रहा है व्यक्ति करे मेरे ऊपर धन्यवाद दें मैं धन्यवाद को पात्र कर रहा हूं ये भावना से तब करता हो कोई शारीर तब मैं तब मानस तब कर रहा होगी सत्कार माने मान पूजा का माने सत्कार साधुकार साधुरयम तपस्वी ब्राह्मण तेपम अर्थम इसलिए अरे ये तो साधु है तपस्वी है ब्राह्मण है ऐसा बोले मेरे तो लिए जाति से ऊंचा दिखाए लोग ऐसा और तपस्वी गए मेरे लिए और साधु अयम या अयम साधु यह तो साधु है ऐसा बोले मेरे लिए लोग ये भावना से तप कर रहा मैंने माने ऐसा ऐसा काम करूंगा तो ऐसी ख्याति मिल जाएगी मुझे इस भाव से माना मानी क्या है माननम माने प्रत्युत्थान अभिपादनादि यही है मान करता लोग उठे मेरे पहुंचने पर लोग उठे हैं मेरे अभिवादन मेरे चरण में आके गिरे हैं ये भाव से तप कर रहा है यह भावना उसकी यह मान प्रत्युत्थान मान उत्थान करे उठे सब और अभिवादन करे स्तुति मेरे नमस्कार करे मेरे चरण में आकर ये भावना से तप कर रहा है मैंने ऐसे तप करूंगा तो भाव बाद में ऐसे हो जाएंगे लोग ये भावना उसकी है तदर्थम इसके लिए सत्कार और मान पूजा के लिए अगर पूजा है सत, सत्कार मान मान सत्कार दो तो हो गया पूजा पाद प्रक्षालना अर्चना अर्चना असहित असहित आदि का पूजा का अर्थ क्या मेरे चरण धोए लो भविष्य में इसलिए तब कर रहा हो ये भावना उसकी पाद प्रक्षालन करें चरण धोए अर्चना करें मेरे पूजा करें और असहित तृत्व आदि मैंने भोजन कराए मेरे को बढ़िया बढ़िया भोजन असह भोजन है ना ये सब कराए मेरे लिए ये भावना से तप कर रहा है भविष्य में ऐसे हो जाऊं जो कि लोग मैं पूज्य बन के चलू हर तरह से ऐसी भावना से तप करता है तदर्थम इसके लिए जो तप होता है तप सत्कार मान पूजा अर्थम तीन हो गया सत्कार मान पूजा दम्य न तीस चौथी बात है दम्ब भी है धर्मध्वजी अपने बोलता रहेगा हम्म। पहले तो दूसरे के द्वारा कहला कहलाने की भावना थी कि मेरे लिए साधु बोले ये बोले सो बोले अब कोई बोलता नहीं तो अपने बोलना पड़ेगा स्थिति है कहते एक व्यक्ति ने एक अंगूठी बनाई सुंदर अंगूठी है वो सोचता था मेरी प्रशंसा करें लोग अच्छा अंगूठी पहना है कोई बोलता ही नहीं कोई बोलता ही नहीं परेशान हो गया अंगूठी बनाना व्यर्थ हो गया <laughs> तो एक दिन क्या किया अपने घर में आग लगा दी स्वयं आग लगा दी तो फ्राई ब्रिगेड आ गए आग बुझाने लगे लोग उधर उधर देख रहे हैं और कहीं धुआं तो नहीं आ रहा कहीं जल तो नहीं आ रहा नहीं इधर भी है इधर भी है ऐसा ऐसा करके ये वही बोली दिखाता था हाँ इधर भी है इधर भी है एक व्यक्ति कहा था आपने अंगूठी भी पहना है क्या अरे ये पहले बोलता तो मैं तो घर में आग लगाता होता है ऐसा होता है जो सत्कार मान पूजा के लिए आशा रखता है कुछ भी कर सकता है दम्बे न चाहिए वह क्रियते तब कहा दम्भ ये धर्म अपने आप बोलते रहना मैंने ये किया सो किया तप ऐसा जो तप होगा तद यह प्रोतम कथितम राजसम प्रोतम निकथम उस तप गया राजस कहा गया है चलम कादाचित फलत्व कहते हैं वो का, का, थोड़े थोड़े फल देने वाला है हम्म। नित्य शांति देने वाला तप नहीं है थोड़े दिन मिलेगा स्वर्ग आदि मिलेगा तप का फल व्यर्थ तो नहीं होगा क्षणिक फल मिलने वाला है कादाचित का अध्रुव इसलिए वो विनाशी फल है उसका अध्रुव ने विनाशी ध्रुव नहीं है अध्रुव है फल वो ध्रुव बने विनाशी होता है अध्रुव बने विनाशी फल ऐसा पाएगा वो ठीक है ठीक है कहते हैं साधुकार में बोले थे साधु है ना साधुकार बोला सत्कार करते साधुकार तो साधु का अर्थ साधु रहे तपस्वी ब्राह्मण इसलिए ही लोग मेरे बोले तो साधु है ऐसे महान तपस्वी है साधु है ब्राह्मण है इत्यादि बोले मेरे को इत्यादि भावना है दम्भे न चाहिए नास्तिक के ना नास्तिकपना से कर रहा हो तब तो। नास्तिकपना नहीं है हम धर्म ध्वजित्य नहीं केवल धर्म ध्वजी है जो किया हुआ तब भी ध्वजा बना के चल रहा है झंडा बना के घूम रहा है जो वो राजस्तप कहलाता है तभी यह प्रोतम असम श्लोक इस श्लोक में ये हमारे ईश्वर को राजस्तव कहा जाता है योग्य फल प्रथम फल काम देने वाला कहा कादाचित फलवत्व क्षणिक क्षणिक फलवत्व कादाचित मान क्षणिक फल वाला है वो फल तो मिलेगा तपस्या किया तो व्यर्थ तो नहीं होगा क्षणिक माने विनाशी फल है उसका अध्रुव मान अनई अध्रुव मान अनियतम अनैकांतिक फल विश्वास नहीं वो फल में मिल रहा है कि नहीं मिले मतलब विश्वास भी नहीं है ऐसा फल है वो विचारी फल है तामसम तप संग्रहादि का जो तामस तप है उसको संग्रह संक्षेप कहते हैं मूढ़ग्राहेणात्मनो यद पीड़या क्रियते तप परस्वत्साधनार्थम व तत्तामसमुदाहृतम मूढ़ग्राहेण मूढ़ग्राहेण आत्मनो यद पीड़या थे तप परस्योत्साधनार्थम वा तत्तामसुपदाहृतम मूढ़ग्राहेण मूढ़ आग्रह अविवेक आग्रहेण अविवेक का आग्रह लेता हुआ अज्ञान का आग्रह लेता हुआ आग्रह के द्वारा अज्ञान का आग्रह है आत्मनो तप पीड़या क्रियते या तप आत्मनो पीड़या क्रियते शरीर आदि को कष्ट देकर जो तप करता है शरीर आदि को कष्ट देकर तप कर रहा है जो व्यक्ति किंतु आग्रह उसका अविवेक है अविवेक के कारण ऐसा काम कर रहा है शरीर आदि को कष्ट करता हो अपने शरीर आदि के कष्ट देना अथवा परस से उत्साह अथवा दूसरे को नाश के लिए तप करता हो दूसरे को नाश करने के विनाश की दृष्टि से तप करता हो तब तामस पदार्थम तामस तब कहा गया है कहा है मूढ़ आग्रह अविवेकन मूढ़ आग्रह मूढ़ माने अविवेक और आग्रह मान निश्चय अविवेक निश्चय के द्वारा है जानकारी नहीं है किस भाव से तप करना है कैसा करना है अज्ञान में आच्छादित है या लहट योग करके बैठा हुआ है मूढ़ ग्रहण आग्रहेण है मूढ़ आग्रह आग्रहेण मूढ़ आग्रह के द्वारा अविवेक आग्रह के द्वारा अविवेक निश्चय ना अविवेक का निश्चय करके बैठा है इसके द्वारा आत्मा देहादि को कष्ट देना आत्मा माने देहादि है देह है इंद्रिय है मन आदि को कष्ट देता हुआ आत्मा न पीड़ा या कृत आत्मा को पीड़ा देता हुआ कष्ट आत्मा मैंने यहां देहादि है देह इंद्रिय मन को कष्ट देता हुआ क्रियते तप जो तप किया जाता है परस्य अथवा दूसरे को विनाश कर लिया परस्य उत्साहनार्थम विनाशार्थम दूसरे को नाश करने के लिए राक्षस आदि का तप होता है दूसरों को नाश के उद्देश्य होता था अपना और कोई उद्देश्य जैसे ओला गिरता है ना ओला उसके उद्देश्य केवल खेती नाश करना अपना भी नाश हो जाना है रहेगा नहीं किंतु पहले उसका नाश करना है तो यही होता है परस्य उत्साह नहीं होता दूसरे का नाश करना इसी ऐसे दृष्टांत ये में होता है और ऐसे उत्साह मान विनाशार्थम व दूसरे को नाश करने के लिए हो अथवा तप या तो अपने शरीर के ही कष्ट देने के लिए हो अविवेक के आग्रह के द्वारा अथवा दूसरे के नाश के लिए जो तप होता हो तत् तामसम तप तत् तप तामसम वो तप को तामस उदाहरण कथितम यही है ठीक है मैं कहा मूढ़ो अत्यंत अविवेकी विवेक नहीं है बिल्कुल अपने ढंग से तप करना बैठ गया बूढ़ो मैंने अत्यंत उपयोगी तस्य ग्राह मैंने आग्रह है ग्राह नाम आग्रह उसका आग्रह है उसी का आग्रह है मैं जो कर रहा हूं वैसा ही है किसी बड़े लोगों से सीखा नहीं जब पूछा नहीं अपने आप बैठा हुआ है केवल सैनिक को कष्ट देने के लिए फल मिलने वाला नहीं है आग्रह अभिनिवेश अभिमान है उसके पास क्या है अभिमान और दूसरे के पास पूछना है कि छोटा बनना पड़ेगा छोटा बनने की इच्छा नहीं है अभिमान में बैठा हुआ है कोई भी कार्य विशेष पुरुषों से जानकारी लेकर ही करना चाहिए अपने आप बैठा हुआ है अभिवेश है अभिमान है उसमें अब मेरे दूसरे के पास जाऊं तो प्रणाम करना पड़ेगा पूछना पड़ेगा मुश्किल है तेरह इसी आग्रह के द्वारा शरीर आदि को कष्ट देता हुआ शरीर को इंद्रियों को कष्ट देता हुआ तब करता है अथवा दूसरे को नाश करने के उद्देश्य से तप करता हो वो तामस तप है कहा माने तप तो वही कर रहा था वो देवदी जी गुरुपाल जी आदि वही काम कर रहा था अभिवेक इत्यादि आत्मा स्वच्छ गया आत्मा पीड़ा या है ना तो आत्मा मैंने कहा अपने शरीर आदि को पीड़ा देता हो कष्ट देता हुआ तब कर रहा है वो क्या है तामस तप है ऐसा कहा समय हो गया है नहीं रखते फिर कर ओम पूर्ण पूर्ण पूर्णश पूर्णा पूर्णमेवशिष्य ओम